ड्रॉप शिपिंग इसके बारे में पता है कितनों को पता है हाँ, हाँ आप वही कर रहे हो बेसिकली मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में मैं अपनी जॉब कर रहा था देन उसके बाद मेरे को ई में मैंने पहले किया था देन उसके बाद फिर अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ा लिखा तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा किसी से कोई को कोर्स परचेज नहीं करा कुछ नहीं करा फिर इसमें दो तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं एक गूगल एक फेसबुक मैसेंजर बड़ा सक्सेसफुल है मेरे ख्याल फेसबुक का है ना या हम्म। तो मैंने मैसेंजर और गूगल दोनों को कर लिया फिर उसके बाद मतलब मैंने खुद का स्टोर बनाया और मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई जिसकी कोई हद नहीं है मतलब मैं अभी मैं ट्वेंटी आवर्स डेली काम करता हूँ देन मैंने मतलब मेरी एस e में जब मैंने स्टार्ट किया था तो सेवन्थ पोजिशन पर था मैं सेवन्थ पेज पर था जिस दिन मैं लास्ट सेशन में आया था तो तब मेरा फर्स्ट पेज पे सेकंड रैंक पे आ गया था अरे वाह एस e के थ्रू या बढ़िया बात मैं घर बैठे करता हूँ मुझे कुछ नहीं करना ड्रॉप शिपिंग या बेसिकली पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है तो वो तो शॉपिफाई का भी है वैसे ड्रॉप शिपिंग मैं शॉपिफाई से ही कर रहा हूँ सर ओवरलो से अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाया वो अपने शॉपिफाई में डाल दिया उस पर गूगल पे एड चला दिया जिसपे केवर ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं राइट जैसे अभी वहाँ पे ट्रैवल का चल रहा है और स्विमिंग पूल वगैरह का चल रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट अपनी साइट पे डाल दिए अली एक्सप्रेस के थ्रू तो सच सच बताना कितना आपकी हो रही है सेल वेल हो रही है कुछ अभी यस सर मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था और मेरे को गूगल एड से मतलब तीन सेल तो तुरंत आ गए थे जिसे बोलते हैं तुरंत एकदम तो अभी मतलब मेरे ये है कि हंड्रेड सेल क्रॉस कर दिए मैंने सौ सेल क्रॉस कर दिया yeah. कितने टाइम में अट्ठाईस मई को चलाया था मैंने अपना गूगल एड तो अभी हार्डली डेढ़ महीना हुआ है या yeah. अरे वाह यार लेट्स गो विज्ञान फॉर ड्रॉप शिपिंग में सब कुछ जो है वो वो लोग करते हैं yeah. आपको ना प्रोडक्ट को स्टोर करना है ना डिलीवर और सबसे अच्छी बात मैं इंडिया में नहीं कर रहा ये यूएस में कर रहा हूँ अच्छा यूएस में कर रहे हो यहीं बैठे बैठे हाँ जैसे मेरे साइट है तो उसमें मैंने प्रोडक्ट की जो रेंज रखी हुई है ट्वेंटी से थर्टी डॉलर की एक्सप्रोक्स रखी हुई है और वहाँ पे तो लोग ट्वेंटी डॉलर तो अपनी पार्किंग में दे देते हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है और मेरे लिए वहाँ पे मार्जन है let's get big hand for जी मतलब इन्होंने क्या किया है इन्होंने एक जनरल वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो ड्रॉप शिपिंग में जो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही हैं मतलब महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रही है वो क्या करती है एक नीच को पकड़ लेती है मतलब मानो बेबीज की कोई वेबसाइट बनाती है अब आप बैठे हो इंडिया में लेकिन आप टारगेट कर रहे हो मान लो यूएस को नाम हो गया डोमेन नेम इंटरेस्टिंग सा उसमें डोमेन नेम बहुत मैटर करता है वो बढ़िया होना चाहिए तो उसी से क्लियर हो गया कि आप एग्जैक्टली exactly क्या करने वाले हो फॉर एग्जाम्पल और कौन सी नीच को हम पकड़ सकते हैं नीच मतलब होता है एक छोटी सी सेगमेंट को पकड़ सकते हैं स्लिमिंग प्रोडक्ट्स ये बड़ी मार्केट है या नहीं है यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है तो लोग वहां पे सर्च कर रहे होंगे how to lose weight quickly fat loss products हाँ पोस्टर क्रिएटर आता है हाँ आई नो एक पोस्टर क्रिएटर आता है जिसमें अगर आप उसको पहन लेते हो तो आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाता है वो मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है और इन्होंने बता दिया सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है तो सारे ही करो आई नो गूगल ट्रेंड से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो रहे हैं अब मैंने आपको क्या बोला अगर आप एक वेबसाइट बनाओ स्लिमिंग से रिलेटेड मतलब जैसे ही कोई बंदा कुछ सर्च करता है अगर आपकी वेबसाइट का नाम है general for example X dot com तो there is a strong possibility वो उसमें नहीं आएगा आएंगे भी तो बहुत कम लोग आएंगे but if somebody searching for keywords related to weight loss fat loss slimming products ऐसा कुछ भी सर्च कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपका नाम है वेबसाइट का तो कितने चांसेस है आपकी वेबसाइट पे आने के तो आपकी वेबसाइट का नाम ही हो गया फॉर एग्जाम्पल स्लिम क्विकली या फिर क्विक uh, स्लिम कैसा है नाम सही लग रहा है सुने है ना क्विक स्लिम डॉट कॉम क्योंकि सबको पतला भी होना है लेकिन जल्दी होना है तो जैसे ही कोई यूएस में या कहीं भी किसी कंट्री में कुछ भी ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इस वेबसाइट की ऐड आ रही है ऐड आएगी वहाँ पर वो लोग उसको वेबसाइट को ब्राउज करेंगे उस वेबसाइट में आप सिर्फ क्लिक कर करके हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे आप चाहे गाँव में हो चाहे शहर में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे ही कोई बंदा वहां पर जाएगा उन प्रोडक्ट्स को देखेगा उसमें से कोई ख़रीदता है तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम है उस कंपनी का जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है तो उस प्रोडक्ट को स्टोर करना उसको डिलीवर करना कुरियर करना अगर वहां से रिटर्न आ रहा है तो वापस से रिटर्न लेना ये सारा काम उस ड्रॉप शिपिंग कंपनी का है आपका काम क्या है सिर्फ मार्केटिंग का मतलब ना प्रोडक्ट बना रहे हो ना पैकेजिंग कर रहे हो ना प्रोडक्ट को अपने वेयर में स्टोर कर रहे हो ना उसको डिलीवर कर रहे हो दिमाग लगा रहे हो हाँ बताओ ना जैसे रिटर्न रेट की आपने बात कही कि रिटर्न कोई कस्टमर दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना कि भाई तू रख ले दो तीन डॉलर का प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस पे आपका क्या लॉस हो रहा है कस्टमर तो बन रहा है अरे गुड आइडिया है let's big hand for him ये बात इनकी समझ आई इन्होंने क्या बोला है रिटर्न रेट मतलब मान लो दो तीन डॉलर की आपको कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की क्योंकि उसमें साठ परसेंट का मार्जिन है अगर पांच डॉलर का आप बेच रहे हो तो 60 परसेंट पाँच डॉलर पे कितना हुआ तीन डॉलर हो गया ये तो आपका मार्जिन है कॉस्ट कितनी हुई दो डॉलर तो अगर दो डॉलर का प्रोडक्ट है अगर उसको आपने एक्चुअल में उसने बंदे ने रिटर्न किया और आप रिटर्न उठाओगे तो उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी सर इसमें दो डॉलर से ज्यादा तो शिपिंग कॉस्ट लग जाएगी पाँच दस डॉलर हाँ जी दो दो चीजें मैटर करती हैं एक तो आपका प्रोडक्ट पेज का ट्रस्ट कैसा है जो आपने वेबसाइट बनाई है उस पर आपका कैसे ट्रस्ट हाँ। बैजेस लगे हुए नहीं लगे हुए हैं हाँ। आपके जो फेसबुक का एड है इंस्टाग्राम का है वो लगे नहीं लगे सब कुछ हाँ। मतलब उसका लोगो वगैरह जो भी है उसका जो टाइटल है उसकी जो फोटोग्राफी है और उसमें thirty day money back guarantee देनी पड़ती है हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें होगी और दूसरी बात आपकी ऑप्टिमाइजेशन की आप ऐड कैसे चला रहे हो कैसे उसको स्केलेबल हाँ। कर रहे हो बिल्कुल इन्होंने दोनों बातें बिल्कुल बैंग ऑन बोली हैं देखो दो चीज़ों का खेल है इसमें सारा का सारा एक है मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग वहाँ तक आएंगे ही नहीं आएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं number one marketing number two trust कोई भी आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट क्यों करेगा अमेजोन को वहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी कंट्री में सब ट्रस्ट करते हैं इसीलिए वहां से परचेजिंग होती है ऐसी कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट है उसको कोई ट्रस्ट कैसे करेगा उसको डर नहीं लगेगा कि कहीं मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला कोई गड़बड़ ना हो जाए ये ना हो जाए पता नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं देंगे तो उस ट्रस्ट को आप कैसे बिल्डअप करते हो सारा खेल उसका है उसके लिए आप क्या कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप स्लिमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना रहे हो स्लिमिंग से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स होंगे बहुत मतलब कितने अरे लाखों हैं <laughs> दिमाग क्यों बंद करते हो स्लिमिंग इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है क्या तो उसमें से लाखों में से हज़ारों प्रोडक्ट आपने अपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इसमें एक वेबसाइट बना ली जिसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं तो क्या इससे रिलेटेड स्लिमिंग वेट लॉस ये वो इस तरह की जो मेडिकल एसोसिएशन होती हैं कोई एसोसिएशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं एक तो होती है जो टॉप की होती हैं उसमें तो आपको एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी बट बहुत सारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल है यूएस की है यूके की है उन एसोसिएशन को आप कुछ नॉमिनल अमाउंट दे करके मानो पचास डॉलर सौ डॉलर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपने उन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो आप क्या दिखा रहे हो we are the member of this association समझे मैंने क्या बोला weight loss association of New York for example ऐसी कोई एसोसिएशन है उसके आप मेंबर बन गए और उसका वो सर्टिफिकेट और उसका पूरा डिटेल आपने वहां पे डाल दिया तो ये क्या हो गया एक तरह का मार्केटिंग हो गया जैसे ये नहीं होता बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं I S O nine thousand one I S O fourteen thousand तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के अलग अलग तरीके हैं इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा कि that person should feel at home यानी कलर थीम जो आप यूज करोगे वो वो वाली यूज करो जो यूएस फ्लैग की कलर थीम है ताकि वो आते ही सबकॉन्शियस लेवल पे उनको पता भी नहीं लगेगा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा वहां पे अगर आपने इंडियन फ्लैग्स की कलर यूज करे तो एकदम से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा उनको लगेगा ये तो कहीं बाहर से कोई है उनको क्या लगना चाहिए यूएस का ही कोई है इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाते हैं मिल जाते हैं हाँ एक होता है वेयर हाउस वो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा नॉर्मल प्राइस कितना होता है तो आपको वेयर हाउस भी मिल जाता है बीस तीस डॉलर में प्लस वर्चुअल ऑफिस मिल जाते हैं बीस तीस डॉलर में वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या होता है वहां पर कोई होगा नहीं लेकिन न्यूयॉर्क में नाम के लिए आपका एक ऑफिस होगा उस एड्रेस को बड़ा बड़ा करके आप अपनी वेबसाइट पर दे सकते हो अब उनको थोड़ी बताइए वर्चुअल ऑफिस है और वहीं का एक टोल फ्री नंबर आपने ले लिया जो मैंने बताया था टोल फ्री फॉरवर्डिंग से तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख गया उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हम कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं थोड़ा जो यूएस का एक्सेंट है वो थोड़ा सीख लो इधर उधर से How do you want? Yeah, why not? अरे क्या करना आग रहा है पीछे से पीछे से आपके पापा की आवाज आई अरे क्या कह रहा है छोरे No, no, nobody, nobody, nobody. movie, movie, Indian movie. I watch Indian movie. My name is John. John. समझ रहे हो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों से ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है एक वहीं का लोकल यूएसए का ही टोल फ्री नंबर आ गया इंडिया का नहीं यूएसए का वहाँ का एड्रेस देखते ही ट्रस्ट आया कुछ एसोसिएशन है उसके उससे ट्रस्ट आया प्लस बहुत सारी सील्स होती हैं इसमें जैसे वेरी साइन है ये है वो वो सब आपको शॉपिफाई के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उसमें आपको कुछ नहीं वो सब लोगोज लगा दो तो वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा अगर इस तरह से एक स्टोर आप बनाते हो और इस तरीके से काम को करते हो क्या मुश्किल है इसमें जैसे आपने बताया ना कि आप मतलब नंबर ले लिया आपने देन उसके बाद वो कॉल करेंगे ये कॉल वाला सिस्टम ही हटा देते हैं आप हम सिंपल सा लिख देंगे जब भी वो कॉल करेंगे this is not our working hour you can call me and you can contact me our अपने सपोर्ट एड्रेस दे दिया thank you for this this this पंगे नहीं लेने ये भी आइडिया अच्छा है <laughs> लेकिन तो अपना वर्किंग टाइम ही है ना हाँ। हमने अपने स्टोर के ऊपर अबाउट अस में लिखा हुआ है कि हमारा चाइना में इंडिया में यूएस में सब कुछ है देखो इसमें ना इतना मेजर इशू नहीं है प्लीज देखो एक तो तरीका है कि हम इस तरीके से करें जैसे आप बता रहे हो कि मतलब जब भी कॉल करें thanks for calling but this is not working hours please call us later तो इसमें बहुत सारी सेल ऐसी जो हो सकती होंगी वो नहीं होगी क्योंकि हो सकता है वो ट्रस्ट अपना पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए वो कॉल कर रहे हो तो हो सकता है अभी जो आपके सौ ऑर्डर आए हो सकता है हज़ार भी हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो देखो जितनी भी ये इंटरनेशनल कंपनीज भी है ना यूएस की कंपनीज है ये है वो उनके सबके कॉल सेंटर तो ज़्यादातर इंडिया में ही है आपके भी कोई ना कोई यार दोस्त होंगे जो कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं जैसे ही काम थोड़ा सा चल जाए अगर उनको भी अपने साथ में ले आओ तो कि भाई तू वहाँ पर काम कर ही रहा है मेरे यहाँ पे देख इतने की तो सेल हो ही रही है इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ चल आ जा दस परसेंट तेरा और वो अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकती है या कर सकता है जो भी होंगे मतलब उनको कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है आपको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है इसमें वो अपने घर से बैठे बैठे ऑपरेट करेंगे काम क्या है कन्वर्जन करना जितनी कन्वर्जन होंगी उन पर उनको दस परसेंट उसको कमीशन मिलेगा तो उसका दिमाग कैसे चलेगा कि यार मैं भी कैसे कमाऊं उसको पहले अकाउंट खोल के दिखा दिया देख भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना तो महीने का आ ही रहा है तो दस परसेंट के हिसाब से तेरे को इतना तो मिल ही जाएगा ऐसे करके ड्रॉप शिपिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आपकी गो डैडी से परचेज कर लो एक साल के लिए उसका वन थाउजेंड के आसपास है ठीक है आपने डोमेन नेम ले लिया देन उसके बाद शॉपिफाई का हो गया ट्वेंटी नाइन डॉलर का हम्म। दो तो ये हो गए मतलब तीन हज़ार रुपये अप्रोक्स आपका ये हो गया ठीक है फिर आपको कुछ नहीं करना आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और अपनी एड्स चलानी है और एड्स आप जितने की चलाओगे उतने कमाओगे तो सिंपल सा मतलब मेरा रूल है मैंने ट्वेंटी थाउजेंड की एड चलाई थी पर मंथ मतलब डेली के हिसाब से मैंने ले लिए थे सात सौ आठ सौ रुपये खत्म बात राइट क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें क्या हो रहा है पार्ट टाइम में आपका एक बिजनेस शुरू हो रहा है अब एडवर्टाइजिंग में आपके ऊपर है आप कितना लगाते हो अगर एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हो तो आप बेवकूफ़ हो एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हो तो तो जितना लगा रहे हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा कमा रहे हो सीधा सा फंडा है घर बैठे बैठे कहीं पर भी हो आप रूरल एरिया में हो अर्बन एरिया में हो घर बैठे बैठे दो हज़ार रुपये महीने में आपका काम शुरू हो गया है बढ़िया है जी कमाओ लाखों करोड़ों कमाओ